दूसरे आदमी एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी अंतिम चर्चा शुरू करना चाहता हूं एक पूरे चांद की रात में एक गांव में कुछ मित्रों ने आधी रात तक शराब घर में इकट्ठा होकर शराब पी ली वे जब नशे में बिल्कुल डूब गए तब उन्हें ख्याल आया कि पूर्णिमा की रात है चले नदी पर नौका विहार करें वे नदी पर गए मछुए अपनी नौकाएं बांधकर सभी के घर जा चुके थे वे एक बड़ी नौका में सवार हो गए उन्होंने पटवारे उठा ली और नौका को खेना शुरू कर दिया फिर वे तेजी से नशे में ताकत से नौका को खेते रहे खेते रहे खेते रहे और फिर बाद में सुबह होने के करीब आ गई उन्होंने आधी रात तक नौका चलाई सुबह की ठंडी हवाओं ने उनके होश को थोड़ा वापस लौट आया और उन्हें ख्याल आया हम न मालूम कितनी दूर निकल आए होंगे अपने गांव से न मालूम कितनी दूरी पर आ गए होंगे और न मालूम किस दिशा में आ गए हैं अब उचित है कि हम वापस लौट चले सुबह होने के करीब है और हमें वापस लौट जाना चाहिए उन्होंने सोचा कि एक आदमी उतर के देख ले कि हम कहा पहुंच गए हैं उत्तर में दक्षिण में कितने दूर है किस गांव में किस तरह वापस लौटे एक मित्र नीचे उतरा और नीचे उतर के पागल की तरह हंसने लगा दूसरे मित्र ने पूछा हंसते क्यों हो ये बताओ हम कहा हैं किस जगह हैं कितने दूर हैं लेकिन उसने कहा तुम भी नीचे आ जाओ और तुम भी हंसोगे उनमें से एक एक उतरता गया और पागल होता गया और पागल की तरह हंसने लगा आखिर वे सब नीचे उतर आया और सभी पागल की तरह हंसने लगे अगर आप भी वहां होते तो आप भी पागल की तरह हंसने लगते एक बड़ी अजीब बात घट गई थी उन्होंने रात में कोई भी यात्रा नहीं की वे वहीं खड़े थे जहां रात नाव बंदी थी वे असल में नाव को खोलना भूल गए थे नाव की जंजीर तट से ही बंदी रह गई रात भर पटवार चलाई व्यर्थ हो गई नौका तभी यात्रा करती है जब तट से उसकी जंजीर मुक्त हो इस कहानी से इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि आदमी भी जीवन के अंत में आम तौर से यही पाता है कि जहां जन्म के समय था वहीं मृत्यु के समय है यात्रा नहीं हो पाई वो कहीं भी नहीं पहुंच पाया है जीवन भर श्रम किया पतवार चलाई दौड़ा लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं पाया है मृत्यु के क्षण में पता चलता है हम अपने पुराने तट से ही बंधे रह गए वे नाव की जंजीर खोलना क्यों भूल गए थे बेहोश थे इसलिए होश में नहीं थे कोई होश में भरा हुआ आदमी पतवार नहीं चलाएगा पहले जंजीर खोलेगा फिर पतवार चलाएगा लेकिन बेहोश आदमी जंजीर खोलने का ख्याल भी भूल जाता है हम भी जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते हैं इससे एक बात निश्चित होती है हम भी शायद जीवन की जंजीर खोलना भूल गए और जंजीर खोलना हम तभी भूल सकते हैं जब हम होश में न हो बेहोश हो नींद में हो और हम में से प्रत्येक आदमी करीब करीब नींद में ही जीता है और नींद में ही समाप्त हो जाए यदि हम जाग जाए तो शायद मृत्यु से मुक्त हो जाए यदि हम जाग जाएं तो हम दुख से मुक्त हो जाएं यदि हम जाग जाएं तो हम प्रभु को उपलब्ध हो जाएं लेकिन हम नींद में हैं और सपनों में हम 24 घंटे सपने देख रहे हैं आप सोचते होंगे कि रात नींद में सपने देखते हैं तो गलत है बात दिन में जागते हुए भी हमारे भीतर सपने चलते रहते हैं अभी हम यहां बैठे हैं लेकिन बहुत थोड़े लोग यहां होंगे कोई कहीं और होगा कोई कहीं और होगा मन न मालूम कहां कहां होगा मन का कोई ठिकाना नहीं कि वो वहीं हो जहां हम बैठे और अगर मन कहीं और है तो सपने में एक आदमी मरण सैया पर पड़ा हुआ है उसकी मृत्यु करीब आ गई थी चिकित्सकों ने कह दिया था कि अब बचने की कोई संभावना नहीं उसकी पत्नी उसके बिस्तर के पास बैठी थी उसके बच्चे उसके बेटे उसके मित्र उसके रिश्तेदार चारों तरफ से बैठे थे सांझ हो गई थी घर में अंधेरा था और एक आदमी का जीवन दिया बुझने को था तो घर में उस दिन कोई दिया भी नहीं जलाया गया था सब उदास और दुखी थे सांझ ढल गई अंधेरा उतरने लगा उस आदमी ने आंखें खोली और अपनी पत्नी से पूछा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है उसकी पत्नी को अत्यंत खुशी हुई ये बात सुन के कि उसका पति अपने बड़े बेटे को पूछ रहा उसने जीवन भर कभी किसी के लिए नहीं पूछा था वो पैसा जुटाने में इतना पागल था कि प्रेम के लिए पूछने की उसे फुर्सत भी नहीं मिली जो लोग पैसे के लिए पागल होते हैं उनका जीवन प्रेम से खाली रह जाता है प्रेम और पैसे की यात्रा एक साथ नहीं हो सकती पैसे के लिए चाहिए कठोर क्रूर और हिंसक मन प्रेम के लिए चाहिए विनम्र कोमल दया से भरा हुआ हृदय तो जो पैसा इकट्ठा करने में लगते हैं वो प्रेम को खोने की कीमत पर ही पैसा इकट्ठा कर पाते हैं प्रेम की हत्या ना हो तो पैसा इकट्ठा करना बहुत कठिन है गरीब गरीब असंभव उस पति ने कभी पूछा ही नहीं था कि मेरा बेटा कहां है वो जब भी पूछता था तो पूछता था तिजोड़ी की चांदी कहाँ या इस तरह की और बातें पूछता था आज मर्द क्षण में उसने पूछा है कि मेरा बेटा कहा है पत्नी बहुत खुश हो गई उसने कहा कोई हर्ज नहीं मर्द समय याद आई है प्रेम की तो भी ठीक है प्रभु का धन्यवाद उसने अपने पति को कहा आप निश्चिंत रहे आपका बड़ा बेटा पैरों के पास ही बैठा हुआ है वो पति और उठाया हाथ देख कर उसने पूछा और उससे छोटा बेटा वो भी वही मौजूद था और उससे छोटा वो भी वही मौजूद था उसके पांच बेटे थे और उसने पूछा कि सबसे छोटा बेटा वो भी वही मौजूद था पत्नी ने कहा बिल्कुल बेफिक्र रहे उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए जाते क्षणों में उसके पति का हृदय आज प्रेम से भर होता है लेकिन वो मरता हुआ आज वो उठ के बैठ गया और उसने कहा छोटा भी इन्होंने इसका क्या मतलब फिर दुकान पे कौन बैठा हुआ वो पत्नी भूल में थी वो प्रेम की याद नहीं थी मरते क्षण में भी वो सोच रहा था कि दुकान पर दुकान चल रही है कोई बैठा है यह आदमी मरण सैया पर पड़ा हुआ भी दुकान का स्वप्न देखता वो वहां नहीं था जहां उसका शरीर था उसका मन कहीं और था स्वप्न का अर्थ है हम जहां हैं वहां हमारा मन न हो तो हम स्वप्न में जीते तो हम निद्रा में जीते तो हम बेहोश होश का अर्थ है मैं जहां हूं वही मेरी चेतना भी है बेहोशी का मतलब है मैं जहां हूं वहां मेरी चेतना नहीं है हर एक आदमी को अपने से पूछना जरूरी है मैं होश में जी रहा हूं या बेहोशी में जी रहा हूं मेरे मित्र स्विट्जरलैंड से यात्रा करके वापस लौटे वे एक बड़े कवि हैं जब मेरे पास आके मेहमान हुए तो मैंने उनसे कहा बहुत खूबसूरत रात थी पूरा चांद था मैंने उनसे कहा आप सारी दुनिया घूम कर लौटे हैं स्विट्जरलैंड घूम कर लौटे हैं मैं भी एक अनूठी जगह दिखाने आपको ले चलता हूँ नर्मदा के तट पर संगमरमर की चट्टानों में गिरते हुए प्रपात के पास आपको ले चलता हूँ उन्होंने कहा मैंने बहुत प्रपात देखे हैं बहुत नदियां देखी बहुत झीलें देखी बहुत सुंदर रातें देखी हैं मुझे कोई खास प्रयोजन नहीं फिर भी मैं नहीं माना और उन्हें ले गया क्योंकि मैंने उनसे कहा कि हर रात का अपना व्यक्तित्व है और हर चांद की अपनी कहानी है और हर पहाड़ का अपना गीत आपने कुछ भी देखा हो लेकिन जो दुकाने मैं ले चल रहा हूं वो आपने नहीं देखा है वो अपनी तरह की अलग बात उन्हें मैं ले गया चांद की उस रात में एकांत एक में नाव पे बिठाकर मैं उन्हें पहाड़ियों में ले गया चांद की बरसती हुई चांदनी के पहाड़ दूध धोए हुए खड़े थे उन्हें देखकर लगता है कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गए लेकिन उन्होंने दो घंटे तक उन पहाड़ियों के बीच में हम नौका पर थे एक क्षण को भी उन पहाड़ियों की तरफ न देखा जो मौजूद थी न उस चांद की तरफ देखा जो आकाश में हंस रहा था न उस सन्नाटे को सुना जो चारों तरफ गीत गा रहा था वो अपने स्विट्जरलैंड की कथाएं भी मुझे सुनाते रहे कि स्विट्जरलैंड में इस तरह की झीले हैं इस तरह के पहाड़ है मैंने ये देखा मैंने वो देखा फिर हम वापिस लौटने लगे गाड़ी में बैठ के समय उन्होंने मुझसे कहा आप जिस जगह ले आए थे वो बड़ी सुंदर थी मैंने कहा क्षमा करें हम आए तो दो थे लेकिन मैं अकेला ही वहां पहुंचा आप पहुंच नहीं सके उन्होंने कहा मैं आपके साथ था पूरे वक्त आप कैसी बातें करते मैं आपके पास ही तो बैठा था दो घंटे तक नाव पर मैंने कहा आप बैठे जरूर थे लेकिन आप मेरे पास नहीं थे आप स्विट्जरलैंड में होंगे मेरे पास आपकी मृत देह मरा हुआ सही एक क्षण को भी आप वहां नहीं थे जहां मैं आपको ले गया और मैंने उनसे कहा मैं निवेदन करता हूं कि अब मुझे आपकी स्विट्जरलैंड में देखी गई बातों का भी कोई विश्वास न रहा क्योंकि मैं आपके मन को पहचान गया जब आप यहाँ नर्मदा पर बैठकर स्विट्जरलैंड में रहे तो मैं जानता हूँ स्विट्जरलैंड की झीलों में बैठ के आप कश्मीर में रहे होंगे या कहीं और रहे होंगे स्विट्जरलैंड में नहीं हो सकते इस स्थिति को मैं बेहोशी कहता हूं नींद कहता हूं सपना कहता हूं ये स्थिति हम सबको एक अंधकार की तरह घेरे हुए है और इसी स्थिति के बीच हम परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं इसी स्थिति के बीच हम आनंद को खोजने की कोशिश करते हैं इसी स्थिति के बीच हम सत्य के निर्णय की चेष्टा करते हैं तो वो सब चेष्टा व्यर्थ हो जाती है उसी तरह जैसे उस रात उस गांव के शराबियों की चेष्टा व्यर्थ हो गई थी नींद में कोई सत्य का निर्णय कैसे कर सकता है सोया हुआ कोई कैसे प्रभु को जान सकता है बेहोशी में कोई कैसे आनंद को उपलब्ध हो सकता है सपने में कोई यात्रा कैसे हो सकती है और सपने में कोई यात्रा कर भी ले तो यात्रा झूठी होगी सुबह जाग के पाएगा कि मैं वही हूं जहां था रात रात में कहीं भी नहीं गया हूं आज रात आप सो जाए भावनगर में सपने में हो सकता है कि आप दिल्ली में हो कलकत्ते में हो ज्यादा संभावना है कि दिल्ली में हो क्योंकि दिल्ली में होने का सपना हर आदमी देखता रात सो जाए तो यह हो सकता है कि आप दिल्ली पहुंच जाए लेकिन सुबह जाग के आप पाएंगे कि आप कहीं भी नहीं बैठे आप भावनगर में ही मौजूद सपने कहीं भी नहीं ले जाते लेकिन सपने में ही हम सब कर रहे हैं और इसीलिए हमारा सब किया हुआ व्यर्थ हो जाता है सपने में ही हम पूछ रहे हैं कि परमात्मा क्या है सपने में पूछ रहे हैं सपने में एक आदमी हिंदू बना हुआ है एक आदमी मुसलमान बना हुआ है एक आदमी ईसाई एक आदमी जैन बना हुआ है सपने में सपने में हमने तय कर लिया है कौन सी किताब बच्ची है सपने में तय कर लिया है कौन सा भगवान सच्चा है सपने में तय कर लिया है कौन सा मंदिर सच्चा है कौन सी मस्जिद सच्ची है और एक बात हम भूल ही गए हैं कि सपने में तय की गई सारी बातें दो कौड़ी की हैं सोए हुए आदमी के किसी निष्कर्ष का कोई भी मूल्य नहीं कोई भी मूल्य नहीं है कि आप सोए में हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि जैन है सब एक सी जी की बातें और बड़ा मजा यह है कि जागा हुआ आदमी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है ना जैन होता है जागा हुआ आदमी सिर्फ आदमी होता है जागा हुआ आदमी सिर्फ मनुष्य होता है हम सब सोए हुए हैं दुनिया में कोई 300 धर्म बना लिए हैं सोए हुए लोगों ने और नींद में ही हम लड़ते भी हैं हत्या भी करते हैं मस्जिद में आग लगाते हैं मंदिर की मूर्ति तोड़ते हैं किताबें जलाते हैं नमाज क्या क्या करते हैं और ये सारा उपद्रव चलता रहता है और नींद में हम बड़े बड़े मेटाफिजिकल प्रश्न उठाते हैं और उनका निर्णय लेना चाहते हैं स्वर्ग कैसा है नर्क कैसा है जो लोग भावनगर की भूगोल भी ठीक से नहीं जानते होंगे वो स्वर्ग और नर्क के नक्शे बना के बता देते उन्होंने मंदिरों में नक्शे टांग रखे हैं कि स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है कितने नरक है कितने स्वर्ग है आदमी नींद में न मालूम क्या क्या कर रहा है बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक छोटा सा प्रश्न कोई भी नहीं पूछ रहा है कि मैं जागा हुआ आदमी हूं या सोया हुआ आदमी मेरी दृष्टि में मनुष्य के समक्ष धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही है सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा यही है कि मैं जागा हुआ हूं या सोया हुआ हूं और अगर सोया हुआ हूं तो ये नींद कैसे टूट सकती है ये तंद्रा कैसे मिट सकती ये सपनों के बाहर में कैसे उठ सकता हूं ये बंद आंखें कैसे खुल सकती हैं फिर एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाता है लेकिन शायद ही कोई पूछता है क्योंकि हम ये मानने को राजी नहीं होना चाहते कि हम सोए हुए हमारे अहंकार को बड़ी चोट लगती है कि कोई कहे कि आप सोए हुए आदमी मैंने सुना है एक फकीर एक गांव में गया है उस गांव के लोग उस फकीर को सुनने के लिए इकट्ठे हुए गांव का जो सबसे बड़ा धनपति था वो भी सुनने को आया फकीर ने बोलना शुरू किया वो जो धनपति था वो फकीर के सामने ही बैठा हुआ था वो सो गया मंदिरों में लोग अक्सर नींद पूरी करते हैं कुछ डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को नींद नहीं आती ही उनको वो सलाह देते हैं कि तुम मंदिर में चले जाओ धर्म कथा सुनो सब दवाएं असफल हो जाए लेकिन धर्म कथा की दवा जरूर कारगर होती है और आदमी को नींद आ वो बेचारा धनपति दिन भर कमा कमा के थका हुआ लौटा था वहां बंद किए झपकी ले रहा था दूसरे सन्यासी आते थे तब भी वो इसी तरह छोटा था लेकिन किसी सन्यासी ने कभी नहीं कहा था कि मां से आप सोते उस धनपति का नाम था आंसू जी ये घटना राजस्थान के गांव की तो किसी सन्यासी ने कभी नहीं कहा था कि आप सोते हैं बल्कि सन्यासी तो ये कहते थे कि सेठ जी आप बहुत ध्यान मग्न होकर सुनते हैं सन्यासियों और धनपतियों में कोई आंतरिक षड्यंत्र साजिश और समझौता है सन्यासी धनपतियों की प्रशंसा करते हैं धनपति सन्यासियों के पैर छूते हैं हमेशा से वो षडयंत्र जारी है तो सन्यासी तो धनपति के विरोध में बोल नहीं सकता कभी क्योंकि धनपति अगर विरोध में हो जाए तो मंदिर कौन बनाए तीर्थ कौन खड़ा करे धर्मशालाएं कौन बनाए दान कौन दे सारा धर्म धनपति चलाता है इसलिए वो सन्यासी कहते थे कि आसो जी और सारे लोग इतने ध्यान से नहीं सुनते आप तो इतने तंजीन होकर सुनते हैं आंसू जी जानते थे कि वो सोते हैं लेकिन मुस्कुराते और कहते थे कि मेरी आदत हमेशा ध्यान से ही सुनने की आदमी को झूठी बातें बड़ी प्रीतिकर लगती हैं बस वे झूठी बातें उसके अहंकार की तृप्ति करती हो तब आदमी को सच्ची बात भी बुरी लगती है अगर वो उसके अहंकार के विरोध में जाती हो और झूठी बात भी अच्छी लगती है अगर अहंकार की तृप्ति होती लेकिन ये जो फकीर आया हुआ था ये कोई अनूठा ही फकीर था जब इसने देखा कि धनपति सो गया है उसने बोलना बंद कर दिया और जोर से कहा आसू जी सोते हैं आसू जी ने घबरा के आंख खोल दी और कहा नहीं नहीं सोता नहीं आपको शायद पता नहीं है आप नए नए आए मैं ध्यान मग्न होकर सुन रहा हूं फकीर ने फिर बोलना शुरू कर दिया सोए हुए आदमी की बात का बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता दस पांच मिनट में आंसू जी को फिर नींद आ गई वो फकीर फिर रुक गया और उसने कहा आंसू जी सोते हैं अब आंसू जी को क्रोध आ गया सारा गांव सुन रहा है लोग कहेंगे आकू जी कथा में सोते हैं और गांव सुन ले भगवान सुन ले जी कथा में सो रहे थे तो स्वर्ग जाने तक में असुविधा हो सकती और इतने जोर से बोलता है ये फकीर तो आकू जी को क्रोध आ गया उन्होंने कहा आप समझे नहीं मैंने कहा नहीं कि मैं जाग रहा हूँ ध्यान से सुन रहा हूं मैं सो नहीं रहा हूं आप अपना बात जारी रखिए उस फकीर ने फिर बोलना शुरू कर दिया आसो जी फिर सो गए सोए हुए आदमी का कोई भरोसा नहीं जो नींद में है उसकी बात का कोई पक्का नहीं लेकिन वो सन्यासी भी एक था उसने फिर बीच में बोलना बंद कर दिया और अब की बार जो उसने कहा वो ठीक से सुन ले हो सकता है कुछ लोग यहाँ भी सो गए हो तो वो ठीक से न सुन पाए उसने जो कहा वो ठीक से सुन लेना हर बार उसने कहा था आसू जी सोते हैं और आसू जी ने फौरन कहा था नहीं नहीं कौन कहता है मैं तो जाता हुआ अब की बार उसने कहा आसो जी जीते हैं और नींद में आसो जी ने समझा कि वही पुराना प्रश्न वो बोले कि नहीं नहीं कौन कहता उस फकीर ने पूछा था हाँ, आसो जी जीते हैं आसो जी नींद में समझे कि वही पुराना प्रश्न वो कहने लगे नहीं नहीं कौन कहता उस फकीर ने कहा आपको निश्चित हो गया कि आप सोते थे लेकिन ये भी उस फकीर ने कहा कि आपका उत्तर भी सही है क्योंकि जो सोता है वो जी नहीं सकता है जीने के लिए जागना जरूरी है तो आप ठीक ही कहते कि नहीं नहीं आप जी नहीं रहे हैं सोता हुआ आदमी जी भी कर तो सकता है सोया हुआ आदमी करीब करीब मरा हुआ आदमी है जीता हुआ आदमी तो जागता हुआ आदमी होगा तो मैं इस अंतिम चर्चा में आपसे ये कहना चाहता हूं कि साधारणता हम सोए हुए लोग और जागने की प्रक्रिया जागने का विज्ञान जागने की जो कला है वही धर्म है मैंने पीछे आपसे कहा कि धर्म जीवन की कला है और जीवन की कला जागने की कला से उपलब्ध होती है अवेकनिंग अवेयरनेस होश मिल जाए प्राण पूरे जाग कर जीवन को अनुभव करने लगे तो प्रति क्षण प्रभु के दर्शन शुरू हो जाते हैं प्रति पल उसका संगीत सुनाई पड़ने लगता है और कण कण में उसकी मूर्ति उपलब्ध होने लगती है सारा जीवन एक अमृत में तरंगों में परिवर्तित हो जाता है लेकिन उसके लिए जागना जरूरी है जागना कैसे हो सकता है ये मैं पीछे आपसे बात करूं पहले ये स्पष्ट रूप से आपको समझ लेना चाहिए कि अगर जागना हो तो एक निर्णय अपने मन में ले लेना जरूरी है कि मैं सोया हुआ हूं जो आदमी ये मानने को राजी नहीं कि मैं सोया हुआ हूं वो जागने की दिशा में कोई भी कदम कभी नहीं रख सकता है जागने की दिशा का पहला सूत्र है कि मैं अनुभव करूं कि मैं सोया हुआ आदमी और अनुभव करने के लिए पूरा जीवन सबूत है पूरा जीवन प्रमाण है आज आपने क्रोध किया होगा और क्रोध करके पछताए होंगे और निर्णय किया होगा कि अब कभी क्रोध नहीं करूंगा और घंटे भर बाद देखा जाता है आप फिर क्रोध कर रहे हैं वो घंटे भर पहले लिया हुआ निर्णय कहां गया तो वो सोए में लिया गया निर्णय होगा इसलिए व्यर्थ हो गया उसकी कोई याद नहीं रही एक आदमी तय करता है कि आज सुबह चार बजे उठूंगा रोज सुबह चार बजे उठना है बहुत हो चुका प्रमाद अब मैं सुबह चार बजे उठूंगा वो कसम खा कर सोता है कि आज कुछ भी हो जाए चार बजे मुझे उठना और चार बजे जब अलार्म बजता है तब वो अपने मन में कहता है आज आज रहने भी दो कल देखेंगे सो जाता है फिर सुबह उठकर फिर पछताने लगता है कि बहुत बुरा हो गया कैसे सो गया मैं मैंने तो तय किया था कि उठना है निश्चित ही उठना है मैं सो कैसे गया जिसने तय किया था वो भी सोया हुआ आदमी था इसलिए निर्णय जीवन नहीं बन पाया व्यर्थ हो गया हम सभी शुभ संकल्प करते हैं लेकिन जीवन में वे शुभ संकल्प चरितार्थ नहीं हो पाते नींद में लिए गए संकल्प का कोई भी मूल्य नहीं चौबीस घंटे हमारा जीवन कह रहा है कि हम सोए हुए बेहोशी में चल रहे हैं एक आदमी दफ्तर में काम करता है उसका बाप उसका मालिक क्रोधित हो जाता है अपमानित कर देता है उस आदमी के मन में भी क्रोध होता है कि मैं भी जवाब दूं और गर्दन पकड़ लू कौन नौकर है जो मालिक की गर्दन नहीं पकड़ लेना चाहता लेकिन सामने वो हाथ जोड़ कर कहता है कि हुजूर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं बिल्कुल गलत हूं भीतर क्रोध उबाल खाता है लेकिन जिंदगी का सवाल है ऐसे क्रोध प्रकट करना तो खतरनाक है जैसे नदी नीचे की तरफ रहती है ऐसे ही क्रोध भी नीचे की तरफ रहता है कमजोर की तरफ ताकतवर की तरफ क्रोध कभी नहीं करता अब मालिक ऊपर है उस पर क्रोध करना खतरनाक है क्रोध उस तरफ बहा नहीं जा सकता क्रोध को पी जाता है और हाथ जोड़कर मुस्कुराता रहता है लेकिन क्रोध भीतर चक्कर मारता है घर लौट के आता है और कोई बहाना सोचता है कि पत्नी पर क्रोध निकलने का मौका मिल जाए रोटी जल गई अब सब्जी ठीक नहीं बनी अब कपड़े आज ठीक से नहीं धुले कल भी कपड़े ठीक नहीं धुले थे और कल भी रोटी जली थी और कल भी सब्जी ऐसी ही बनी लेकिन कल उसके भीतर क्रोध उबलता हुआ नहीं था आज क्रोध उबल रहा है वो कोई भी बहाना ढूंढ के पत्नी पर टूट पड़ता है ये क्रोध निकलना था मालिक पर निकल रहा है पत्नी पर सोए हुए आदमी का सबूत है पत्नी क्या कर सकती है पति के साथ पति ने उसे हजारों साल से समझाया है कि मैं परमात्मा हूं ये बड़े मजे की बात है पति खुद ही समझाता है कि मैं तुम्हारा परमात्मा स्त्रियों ने तो अब तक एक भी शास्त्र नहीं लिखा नहीं तो वो भी शायद यही समझाते कि पत्नी परमात्मा है पति चरणों में प्रणाम करो लेकिन स्त्रियों ने किताबें नहीं लिखी उन्होंने कोई शास्त्र नहीं लिखा सब शास्त्र पतियों ने लिखे तो उन्होंने लिख लिया उनमें कि पति परमात्मा है अब परमात्मा पर क्रोध नहीं किया जा सकता लेकिन क्रोध तो पैदा होता है पत्नी भी जल उठती और क्रोध इसलिए भी पैदा होता है कि उसे दिखाई पड़ता है कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है और क्रोध किया जा रहा है लेकिन पति के सामने वो किसी तरह क्रोध को पी जाएगी स्कूल से लौटते हुए बेटे की प्रतीक्षा करेगी थोड़ी बहुत देर में लड़का स्कूल से लौट ही आएगा किताब फाड़ के ले आए हो बस्ता खराब कर लाए हो कपड़े खराब हो गए और बच्चे की पिटाई शुरू हो जाएगी और बिना इस बात के ख्याल के कि बच्चे की शकल में पति को पीटा जा रहा है बच्चे का कोई भी संबंध नहीं कल भी बच्चा इसी तरह किताब फाड़ के लाया था तो कल भी बच्चा इसी तरह टूट गया था लेकिन कल कल कोई क्रोध नहीं था इसलिए बच्चा बच गया था इसीलिए तो बच्चे वाली औरतें ज्यादा प्रसन्न मालूम होती हैं बिना बच्चे वाली औरतों के बच्चे वाली औरतों के क्रोध को निकलने के सुगम उपाय मिल जाते हैं बच्चों की शक्ल हजार बहाने निकाल के बच्चों को दबाया और बताया जाता है बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है बेचारा अब माँ का क्या कर सकता है करेगा कभी जब माँ बूढ़ी हो जाएगी और बच्चा जवान हो जाएगा लेकिन अभी उस दिन को बहुत देर वो बदला बहुत डिले होगा बहुत देर अभी उसका कोई अभी एकदम से नहीं कर सकता है कुछ लेकिन कुछ तो उसे करना ही होगा वो एकांत में जाके अपनी गुड़िया की काम तोड़ दे और क्या कर ये सब नींद में चल रहा हुआ समाज है ये सब बेहोशी में दौड़ हुए लोग हैं ये हमारी सारी चर्या बिल्कुल ऐसी है जिससे कोई नशे न हो अपने जीवन में खोजे में सोया हुआ आदमी हूं या जागा हुआ आदमी स्मरण रखें जागा हुआ आदमी क्रोध कैसे कर सकता है स्मरण रखें जागा हुआ आदमी दुश्मन कैसे हो सकता है स्मरण रखें जागा हुआ आदमी द्वेष से अपमान से घृणा से कैसे भर सकता है ये सोए हुए आदमी के लक्षण बुद्ध एक गांव के पास से निकलते थे कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और रास्ते को रोक लिया और बहुत गालियां दी बहुत अपमानजनक शब्द कहे बुद्ध ने उन्हें चुपचाप सुना जबकि सारी गालियां दे चुके तो बुद्ध ने कहा अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं मुझे दूसरे गांव दोस्त को जल्दी पहुंचना है उन लोगों ने कहा यह कोई बातचीत नहीं थी जो हमने कही सीधी स्पष्ट गालियां थी आपकी समझ में नहीं आई बुद्ध ने कहा गालियां समझ में आ गई लेकिन मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है मैं जाऊं तुम्हारी गालियां पूरी हो गई हो तो मुझे आप क्या उन्होंने कहा गालियां पूरी हो गई लेकिन प्रत्युत्तर चाहिए गालियों का उत्तर तत्काल दिया जाता है आप उत्तर नहीं देना चाहते बुद्ध ने कहा अगर तुम्हें गालियों का उत्तर चाहिए था तो दस साल पहले आना था जब मैं सोया हुआ आदमी तब तुम गाली दे भी ना पाते हो मेरे भीतर दुगने वजन की गाली पैदा हो जाती लेकिन जब से मैं जाग गया हूं तब से बड़ी मुसीबत हो गई आज तुम्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा मेरे पास देने को कुछ भी नहीं पिछले गांव में कुछ लोग मिठाइयां लेकर आए थे और मुझसे कहने लगे कि मिठाइयां स्वीकार कर लू मैंने कहा मेरा पेट भरा है वे मिठाइयां वापस ले गए उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा उस भीड़ में से तो एक आदमी ने कहा उन्होंने बच्चों को बांट दी होंगी गांव में बांट दी होंगी बुद्ध ने कहा तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए तुम मिठाइयां लाके तो ठीक था तुम गालियां लेकर आए और मैं कहता हूं मैं लेने से मजबूर हूं मैं लेने से इनकार करता हूं अब तुम क्या करोगे बच्चों को बांटोगे गांव में प्रसाद बांटोगे क्या करोगे गालियां मित्रों तुम्हें वापस ले जानी पड़ेगी क्योंकि मैं लेने से इनकार करता हूं गालियां सिर्फ सोया हुआ आदमी लेने के लिए तैयार होता है जागा हुआ आदमी गालियां क्यों है जागा हुआ आदमी गड्ढों में क्यों गिरेगा ठीक रास्ते पर चलेगा जागा हुआ आदमी कांटों के रास्ते क्यों पकड़ेगा जब फूलों के रास्ते मौजूद है सोया हुआ आदमी कांटों के रास्ते चुनता है नींद में चलता हुआ आदमी गड्ढों में गिरता है होश से भरे आदमी के लिए गड्ढे में गिरने की कोई भी जरूरत नहीं आप गड्ढे में गिरते हैं आप कांटों में उलझते हैं क्रोध घृणा वैमनस आपको पकड़ता है तो जान लेना कि आप सोए हुए आदमी हैं जागे हुए आदमी हैं सोया हुआ आदमी अधार्मिक आदमी है और जागने के लिए पहला सूत्र है इस बात को स्वीकार कर लेना कि मैं सोया हुआ हूं तो हम जाग सकते हैं मैं समझता हूं आप सोचेंगे समझेंगे खोजेंगे तो असंभव है ये बात कि आप पाए कि आप सोए हुए नहीं सोए हुए हैं इसकी स्वीकृति अगर स्पष्ट हो जाए तो कैसे हम जागे कैसे जाग सकते हैं उसकी प्रक्रिया समझी जा सकती है कैसे जाग सकते हैं क्या रास्ता हो सकता है कि मेरा चित्त जाग जाए मेरी कॉन्सियसनेस होश से भर जाए मेरे जीवन में भीतर बेहोशी ना रह जाए सब बेहोशी टूट जाए मैं आर पार जीवन के देखने में समर्थ हो जाऊं कैसे ये हो सकता है मैंने आपको कहा कि मैं सोएपन का स्लिपीनेस का एक ही लक्षण मानता हूं जहां आप हैं वहां आपका मन न हो तो आप सोए हुए हैं जागने का लक्षण होगा जहां आप हैं वही आपका मन हो अगर आप भोजन कर रहे हैं तो सारा जगत मिट जाए और आपका चित्त सिर्फ भोजन करता हो एक ही कॉन्सियसनेस रह जाए एक ही चेतना रह जाए कि मैं भोजन कर रहा हूं और चित्त और भोजन के बीच कोई विचार कोई कल्पना कोई दर्शन कोई दृश्य न रह जाए तो आप जाग कर भोजन कर रहे हैं अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी चेतना के समक्ष चलने के अतिरिक्त और कोई क्रिया न रह जाए सिर्फ चलना ही रह जाए तो आप जाग के चल रहे हैं अगर आप यहां मुझे सुन रहे हैं तो सुनते समय सिर्फ सुनना रह जाए और आपके मन में कोई भाव कोई विचार न हो तो आप जाग कर सुन रहे हैं जो मैं कर रहा हूं बस उतना ही करना रह जाए और चित्त यहां वहां भागता हुआ ना हो तो चेतना जागनी शुरू हो जाती है लेकिन सामान्यतया हमारा चित्त या तो अतीत में होता है जो बीत गया है तो या भविष्य में होता है जो अभी नहीं आया वर्तमान में हम कभी भी नहीं होते वर्तमान में होना जागना है लेकिन हम या तो अतीत में होते बीत गए दिन हमारे मन को पकड़े रहते हैं बूढ़े अतीत में जीते बच्चे भविष्य में जीते वर्तमान में कोई भी नहीं जीता है या तो हम सोचते हैं आने वाले क्षण की कि क्या होगा या हम सोचते हैं बीते क्षण की कि क्या हो चुका है जो हो चुका है वो हो चुका है जो अभी नहीं हुआ है वो नहीं हुआ जो अभी हो रहा है वो जो इस क्षण मौजूद है वही सत्य है उस सत्य के साथ चेतना एक हो जाए तो व्यक्ति जाग जाता है और उस जागरण के माध्यम से ही सत्य परमात्मा आनंद और सौंदर्य की उपलब्धि होती जैसे ही कोई वर्तमान के क्षण में जागता है वैसे ही मृत्यु मिट जाती है क्योंकि तो उस क्षण में जागते ही पता चलता है कि मेरे भीतर तो वो मौजूद है जिसका कोई अंत कभी नहीं हो सकता वर्तमान के क्षण में जागना स्वयं में जाग जाना अतीत में होना स्मृति में होना है भविष्य में होना कल्पना में होना है सत्य में जो होना चाहता है उसे वर्तमान के क्षण में ही जानना होगा एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करो जापान में कोई 200 वर्ष पहले एक बहुत अद्भुत सन्यासी हुआ उस सन्यासी का एक ही शिक्षा थी कि जागो नींद छोड़ दो उस सन्यासी की खबर जापान के सम्राट को मिली सम्राट जवान था अभी नया नया राजगद्दी पर बैठा था उसने उस फकीर को बुलवाया और उस फकीर से प्रार्थना की मैं भी जागना चाहता हूं क्या मुझे जागना सिखा सकते हैं उस फकीर ने कहा सिखा सकता हूं लेकिन राजमहल में नहीं मेरे झोपड़े पे आ जाना पड़ेगा और कितने दिन में सीख पाएंगे इसका कोई निश्चय नहीं है ये एक एक आदमी की तीव्रता पर निर्भर करता है एक एक आदमी के असंतोष पर निर्भर करता है कि वो कितना प्यासा है कि सीख सके तुम्हारी प्यास कितनी है तुम्हारी अतृप्ति कितनी है तुम्हारा डिसकंटेंट कितना है तो तुम सीख सकते हो और उस मात्रा में निर्भर होगा कि तुम कितने जल्दी सीख सकते हो वर्ष लग सकते हैं दो वर्ष लग सकते हैं दस वर्ष लग सकते हैं और मेरी शर्त है कि बीच से कभी आने नहीं दूंगा अगर सीखना हो तो पूरी तैयारी करके आना और साथ में ये भी बता दू कि मेरे रास्ते अपने ढंग के हैं तुम ये मत कहना कि ये मुझसे क्या करवा रहे हो ये क्या सिखा रहे हो मेरे अपने ढंग है सिखाने के राजकुमार राजी हो गया और उस फकीर के आश्रम पहुंच गया दूसरे दिन सुबह उठते ही फकीर ने कहा कि आज से तुम्हारा पहला पाठ शुरू होता है और पहला पाठ यह है कि मैं दिन में किसी भी समय तुम्हारे ऊपर लकड़ी की नकली तलवार से हमला करूंगा तुम किताब पढ़ रहे हो मैं पीछे से आके नकली तलवार से तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा तुम बुहारी लगा रहे हो मैं पीछे से आके हमला कर दूंगा तुम खाना खा रहे हो मैं हमला कर दूंगा दिन भर होश से रहना किसी भी वक्त हमला हो सकता है सावधान रहना अलर्ट रहना किसी भी वक्त मेरी तलवार लकड़ी की तलवार तुम्हें चोट पहुंचा सकती है उस तो राजकुमार ने कहा कि मुझे तो जागरण की शिक्षा के लिए बुलाया गया था और ये क्या करवाया जा रहा मैं कोई तलवारबाजी सीखने नहीं आया हूं लेकिन गुरु ने पहले कह दिया था कि इस मामले में तुम कुछ पूछताछ नहीं कर सको मजबूरी थी शिक्षा शुरू हो गई पाठ शुरू हो गया आठ दिन में ही उस राजकुमार की हड्डी पत्नी सब दर्द देने लगी हाथ पैर सब दुखने लगे जगह जगह से चोट किताब पढ़ रहे हैं हमला हो जाएगा रास्ते पर घूमने निकला है हमला हो जाए दिन में दस पच्चीस बार कहीं से भी हमला हो जाए लेकिन आठ दिन में ही उसे पता चला कि धीरे धीरे एक नए प्रकार का होश एक जागृति उसके भीतर पैदा हो रही वो पूरे वक्त अलर्ट रहने लगा सांसद रहने लगा कभी भी हमला हो सकता है किताब पढ़ रहा है तो भी उसके चित्त का एक कोना जागा हुआ है कि कहीं हमला न हो जाए तीन महीने पूरे होते होते किसी भी तरह का हमला हो वो रक्षा करने में समर्थ हो गया उसकी ढाल ऊपर उठ जाती पीछे से भी गुरु आए तो भी ढाल पीछे उठ जाती और हमला समझ जाता तीन महीने बाद उसे चोट पहुंचाना मुश्किल हो गया कितने ही अनअवेयर कितना ही अनजान हमला हो वो रक्षा करने लगा चित्त राजी हो गया चित्त सजग हो गया उसके गुरु ने कहा कि पहला पाठ पूरा हो गया कल से दूसरा पाठ शुरू होगा दूसरा पाठ यह है कि अब तक जागते में मैं हमला करता था कल से नींद में भी हमला होगा संभल के सोना उस राजकुमार ने कहा गजब करते हैं आप कमाल करते हैं जागने तक गनीमत थी मैं होश में था किसी तरह बचा लेता था लेकिन नींद में तो बेहोश रहूंगा उसके गुरु ने कहा घबराओ मत मुसीबत नींद में भी होश को पैदा कर देती संकट क्राइसिस नींद में भी सावधानी को जन्म दे देती एक मां होती है बच्चा उसके पास सोया है बीमार बच्चा है कितनी ही गहरी नींद हो आकाश में बादल गरजते रहे बिजली चमकती रहे रास्तों पर युद्ध के टैंक गुजरते रहे माँ की नींद नहीं खुलेगी लेकिन बच्चा जरा सा कराहा और माँ जाग जाएगी वो कराह भी सुनाई पड़ सकती यहाँ कितने लोग हैं हम हम सब सो जाए रात और फिर कोई एक आदमी दरवाजे पर आके चिल्ला है राम राम कहाँ है किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा लेकिन जिसका नाम राम है वहां खोल कर कहेगा कौन है कौन नींद गड़बड़ कर रहा है कौन बुला रहा है नींद में भी पता है आपको कि आप राम हैं नींद में भी आवाज आपकी चेतना को स्पर्श करती और स्मरण दिलाती उस बुढ़ना का फिक्र मत करो तुम उसकी फिक्र छोड़ो तुम तो नींद में भी होश रखने की कोशिश करना और लकड़ी की तलवार पर नींद में हमले शुरू हो गए रात में आठ दस दफा कभी भी चोट पड़ जाती एक दिन दो दिन आठ दस दिन बीतते फिर हड्डी पतली दर्द करने लगे लेकिन तीन महीने पूरे होते होते राजकुमार ने पाया कि वो बूढ़ा ठीक करता है नींद में भी होश जगने लगा सोया रहता और भीतर को जागता भी रहता और स्मरण रखता कि हमला हो सकता है हाथ रात में नींद में भी ढाल को पकड़े रखता है तीन महीने पूरे होते होते गुरु का आगमन उसके कदम की धीमी की आवाज भी उसे चौंका देती और वो ध्यान से रक्षा कर लेगा तीन महीने पूरे होने पर नींद में भी हमला करना मुश्किल हो गया अब वो बहुत प्रसन्न था एक नए तरह की ताजगी उसे अनुभव हो रही थी नींद में भी हो सकता और कुछ नए अनुभव उसे हुए पहले तीन महीने में जब वो दिन में जागने की कोशिश करता था तो जितना जितना जागना पड़ता गया उतने उतने विचार कम होते गए थे विचार नींद का हिस्सा है जितना सोया हुआ आदमी उतने ज्यादा विचार उसके भीतर चक्कर काटते हैं जितना जागा हुआ आदमी उतना भीतर साइलेंस और मौन आना शुरू हो जाता है विचार बंद हो जाता है पहले तीन महीने में उसे स्पष्ट दिखाई पड़ा था कि धीरे धीरे विचार कम होते गए कम होते गए फिर धीरे धीरे विचार समाप्त हो गए सिर्फ सावधानी रह गई होश रह गया अवेयरनेस रह गई ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती या तो विचार रहता है या होश रहता है विचार आया कि होश गया जैसे बादल गिर जाए आकाश में तो सूरज हट जाता है बादल हट जाए तो सूरज प्रकट हो जाता है विचार मनुष्य के मन को बादलों की तरह घेरे हुए विचार घेर लेते हैं होश लग जाता है विचार हट जाते हैं होश प्रकट हो जाता है जैसे बादलों को फोड़ के सूरज दिखाई पड़ने लगता है पहले तीन महीने में उसे अनुभव हुआ था कि विचार क्षीण हो गए कम हो गए दूसरे तीन महीने में एक और नया अनुभव हुआ रात में जैसे जैसे होश बढ़ता गया वैसे वैसे सपने ड्रीम्स कम होते गए जब तीन महीने पूरे होते होते जागरण रात में भी बना रहने लगा तो सपने बिल्कुल विलीन हो गए नींद स्वप्न शून्य हो गई दिन विचार शून्य हो जाए रात स्वप्न शून्य हो जाए तो चेतना जागी ही तीन महीने पूरे होने पर उसके बूढ़े गुरु ने कहा दूसरा पाठ पूरा हो गया कल से तीसरा पाठ शुरू होगा उस राजकुमार ने कहा तीसरा पाठ क्या हो सकता है जागने का पाठ भी पूरा हो गया नींद का पाठ भी पूरा हो गया उसके गुरु ने कहा अब असली पाठ शुरू होगा कल से मैं असली तलवार से हमला शुरू करूंगा अब तक लकड़ी की तलवार उस राजकुमार ने कहा आप क्या कह रहे हैं लकड़ी की तलवार तक गनीमत की थी चूक भी जाता था तो भी कोई खतरा नहीं था असली तलवार गुरु ने कहा कि जितना चैलेंज जितनी चुनौती चेतना के लिए खड़ी की जाए चेतना उतनी ही जागती है जितनी चुनौती हो चेतना के लिए चेतना उतनी सजग होती है तुम घबराओ मत असली तलवार तुम्हें और गहराइयों तक जगा देगी और दूसरे दिन सुबह से असली तलवार से हमला शुरू हो गया सोच सकते हैं आप असली तलवार का ख्याल ही उसकी सारी चेतना की निद्रा को तोड़ दिया होगा भीतर तक प्राणों के अंत तक वो तलवार का स्मरण व्याप्त हो गया तीन महीने गुरु एक भी चोट नहीं पहुंचा सका असली तलवार से लकड़ी की तलवार से चोट पहुंचा भी सकता था क्योंकि लकड़ी की तलवार की उतनी चुनौती ना असली तलवार की चुनौती अंतिम की एक बार चूक जाए तो जीवन समाप्त हो जाए तीन महीने में एक चोट नहीं पहुंचाई जा सकी और इन तीन महीनों में उसे इतनी शांति इतने आनंद इतने प्रकाश का अनुभव हुआ उस युवक राजकुमार को उसका जीवन एक नए नृत्य में एक नए लोक में प्रवेश करने लगा आखिरी दिन आ गया तीसरे पाठ का और गुरु ने कहा कि कल तुम्हारी विदा हो जाएगी तुम उत्तीर्ण हो गए क्या तुम नहीं जाग गए उस युवक ने गुरु के चंद्र में सिर रख दिए उसने कहा मैं जाग गया हूँ और अब मुझे पता चला कि मैं कितना सोया हुआ था जो आदमी जीवन भर बीमार रहा हो वो धीरे धीरे भूल ही जाता है कि मैं बीमार हूं जब वो स्वस्थ होता है तब भी पता चलता है कि मैं कितना बीमार था जो आदमी जीवन भर सोया रहा है और हम सब सोए रहे हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने सोए हुए जब हम जागेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो कि सारी सारा जीवन एक नींद श्री अरविंद ने कहा है जब मैं सोया हुआ था तो जिसे मैंने प्रेम समझा था जाग के मैंने पाया वो असत्य था वो प्रेम नहीं था जब मैं सोया हुआ था तो जिसे मैंने प्रकाश समझा था जाग के पाया कि वो अंधकार से भी बदतर अंधकार था वो प्रकाश था ही नहीं जब मैं सोया हुआ था तो जिससे मैंने जीवन समझा था जाग कर मैंने पाया वो तो मृत्यु थी जीवन तो ये है उस राजकुमार ने चरणों में सिद्ध दिए और कहा कि अब मैं जान रहा हूं कि जीवन क्या है कल क्या मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी गुरु ने कहा कल सुबह में तुम्हें विदा कर दूंगा सांझ की बात है गुरु बैठ के पढ़ रहा है एक वृक्ष के नीचे किताब और कोई 300 फीट दूर वो युवक बैठा हुआ है कल सुबह वो विदा हो जाएगा इस छोटी सी कुटी में इस बूढ़े के पास उसने जीवन की संपदा पाली है तभी उसे अचानक ख्याल आया कि ये बूढ़ा नौ महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है जगाने जगाना जगाना सावधान सावधान ये बूढ़ा भी इतना सावधान है या नहीं आज मैं भी इस पर उठ के हमला करके क्यों ना देखूं कल तो मुझे विदा हो जाए मैं भी तलवार उठाऊं इस बूढ़े पर हमला करके पीछे से देखूं ये खुद भी सावधान है या नहीं उसने इतना सोचा ही था कि वो बूढ़ा वहां दूर से रहा है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना मैं बूढ़ा आदमी हूं भूल के भी ऐसा मत करना कोई युवक तो आप रह गया उसने सिर्फ सोचा था उसने कहा मैंने लेकिन अभी कुछ किया नहीं सिर्फ सोचा है उस बूढ़े ने कहा तू थोड़े दिन और ठहर जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो दूसरे के विचारों की पग ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगती जब मन बिल्कुल मौन हो जाता है तो दूसरे के मन में चलते हुए विचारों का दर्शन भी शुरू हो जाता है जब कोई बिल्कुल शांत हो जाता है तब सारे जगत में सारे जीवन में चलते हुए स्पंदन भी उसे अनुभव होने लगते इतनी ही शांति में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है इतनी ही शांति में प्रभु चेतना का अनुभव अवतरित होता है वो राजकुमार दूसरे दिन विदा हो गया होगा एक अनूठा अनुभव लेकर वो उस आश्रम से वापस लौटा जब वो राजधानी में प्रविष्ट हुआ तो वो हैरान रह गया जो भी आदमी उसको दिखाई पड़ता वो उसे दिखाई पड़ता कि वो बिल्कुल सोया हुआ चला जा रहा है हर आदमी सोया हुआ चला जा रहा है दुकानदार दुकान पर बैठ के सोया हुआ धंधा कर रहा है रास्ते पर चलने वाले नींद में चले जा रहे हैं वो इतना घबरा है क्योंकि सारा जगत सोया हुआ था जागने की छोटी सी किरण दिखाई पड़े तो आपको चारों तरफ सोए हुए लोग दिखाई पड़े और तब उन सोए हुए लोगों पर आपको क्रोध नहीं दया का अनुभव होगा ममता का अनुभव होगा करुणा का अनुभव होगा तब अगर एक सोया हुआ आदमी आपको धक्का मार देगा तो आप लड़ने को तैयार नहीं हो जाएंगे आप समझेंगे वो बेचारा सोया हुआ है एक आदमी गाली दे जाएगा और आप समझेंगे वो बेचारा सोया हुआ है एक आदमी हमला कर देगा और आप समझेंगे कि वो बेचारा सोया हुआ है जागा हुआ आदमी जब सारे जगत को सोया हुआ देखता है तो अति करुणा से भर जाता है जागरण का लक्षण है सारे जीवन के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाना सोए हुए आदमी का लक्षण है सबके प्रति क्रोध घृणा हिंसा से भरे हुए होना हिंसा नींद की छाया है प्रेम जागृति की छाया है इसलिए प्रेम से पहचाना जाता है कि कोई आदमी प्रभु के पास पहुंच गया या नहीं इसलिए प्रेम से खबर मिलती है कि किसी को प्रभु का संदेश उपलब्ध हो गया या नहीं इसलिए बहते हुए प्रेम से संदेश आता है ध्वनि आती है कि कोई प्रभु के मंदिर के निकट पहुंचने लगा है लेकिन जिनको हम धार्मिक लोग कहते हैं वो एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा से भरे हुए हैं कि उनका प्रभु से कोई भी संबंध नहीं हो सकता है हिंदू मुसलमान के प्रति घृणा से भरा हुआ ईसाई हिंदू के प्रति घृणा से भरा हुआ जैन बौद्ध के प्रति घृणा से भरा हुआ है वे सारे लोग एक दूसरे के प्रति घृणा से भरे हुए हैं द्वेष से भरे हुए हैं प्रतिस्पर्धा से भरे हुए वे धार्मिक कैसे हो सकते धार्मिक आदमी के लिए सिवाय प्रेम के और कुछ विशेष नहीं रहता लेकिन वो प्रेम तभी उपलब्ध होता है जब जागरण उपलब्ध होता है नींद को जागरण में तोड़ना जरूरी है नींद को जागरण में बदलना जरूरी है कैसे बदलेंगे आप कौन आपके पीछे तलवार लेके लगेगा कोई नहीं लगेगा आपके पीछे तलवार लेकर लेकिन मौत आपके पीछे तलवार लेकर रोज ही लगी हुई है अगर मौत का स्मरण आ जाए तो आप भी जाग सकते हैं प्रतिपल मौत आपके पीछे लगी हुई प्रति क्षण कोई तलवार हर एक ऊपर लटक रही अगर उसका स्मरण आ जाए तो आप होश से भर सकते हैं अगर स्मरण आ जाए मैंने सुना है महाराष्ट्र में एक संत हुआ एक युवक उसके पास कभी कभी आता था उस युवक ने एक दिन सुबह सुबह आके संत को पूछा कि मैं आपको देखता हूं तो मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है लेकिन दूसरे लोग मौजूद रहते हैं इसलिए मैं पूछता नहीं मेरे मन में ये प्रश्न उठता है आप इतने प्रेम से भरे हुए मालूम होते क्या आपके भीतर घृणा का ख्याल कभी नहीं उठता आप इतने शांत मालूम होते हैं कि क्या आपके भीतर अशांति का कीड़ा कभी नहीं सड़कता आप इतने धुले धुले साफ स्वच्छ मालूम होते हैं कि क्या आप पवित्रता के दाग आपके भीतर बिल्कुल मिट गए क्या जैसे आप बाहर हैं वैसा ही भीतर भी है सब कुछ मैं यही पूछना चाहता हूं उस सन्यासी ने कहा कि मेरे दोस्त तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दो क्षण बात दूंगा एक और जरूरी बात मुझे बता देनी दो दिन से सोचता हूं बताने को लेकिन भूल जाता हूं और अगर दो चार दिन और भूल गया तो फिर बताने की जरूरत न रह जाएगी पहले वो सुन लो उसी वक्त ने कहा वो कौन सी बात है उस सन्यासी ने कहा कि दो दिन पहले तुम्हारे हाथ पर अचानक मेरी नजर गई तो मैंने देखा तुम्हारी उम्र की रेखा समाप्त हो गई सात दिन और और तुम समाप्त हो जाओगे ये दो दिन पहले की बात है अब पांच दिन ही बचे थे पांचवें दिन सूरज डूबा और तुम भी गए तो ये बता दू नहीं तो भूल जाए तो फिर बताने की कोई जरूरत न रह जाए अब तुम पूछो कि क्या पूछते वो आदमी उठ के खड़ा हो गए वो आया था तो जवान था ये बात सुनते ही कि पांच दिन में मौत है एकदम से बूढ़ा हो गए उसके हाथ पैर कपने लगे उस सन्यासी ने उससे कहा बैठो तुम कुछ अच्छी बात पूछते थे पूछो मैं उसका उत्तर दू तो उस आदमी ने कहा मुझे अब कुछ भी याद नहीं आता कि मैं आपसे क्या पूछता फिर कभी ख्याल आया तो मैं आपसे पूछूंगा अभी मैं जाता हूं क्षमा करे वो आदमी दीवार का सहारा लेकर सीढ़ियां उतरने लगा अभी आया था तो जवान अभी आया था तो हाथों में मजबूती थी अभी पैर शक्तिशाली थी अब लौटता था तो सब विलीन हो गया आंखों ने जैसे प्रकाश खो दिया हो पैरों ने शक्ति खो दी प्राणों ने ऊर्जा खो दी मौत सामने खड़ी हो गई वो अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाया और सड़क से गिर पड़ा बेहोश हो गए तो उसे बेहोशी में घर ले जाया गया उसने जाके बमुश्किल बता पाया कि बस पांच दिन और मैं खत्म हो जाऊंगा थोड़ा स्वस्थ हुआ तो उसने घर के लोगों को कहा जाओ पड़ोस में जिनसे मेरे झगड़े थे उनसे मेरी ओर से क्षमा मांगाओ कल सुबह तक सोच रहा था कि मुकदमे चलाने कल सुबह तक सोचता था कि किसकी छाती में चुरा भुकवा दू आज कहने लगा कि जाओ उनसे क्षमा मांगाओ सब झगड़े जिंदगी के झगड़े थे जब मौत आ गई तो कहता झगड़ा कैसे झगड़े का सवाल पास पड़ोस में क्षमा मांग ली मित्र परिजन इकट्ठे होने लगे पांच दिन और पांच में दिन वो आदमी करीब करीब मृत्यु में डूबा डूबा हो गया सूरज डूबने के घड़ी भर पहले वो सन्यासी उसके घर पहुंचा अंधकार है लोग रो रहे हैं पत्नी बिलख रही बच्चे चिल्ला रहे हैं वो सन्यासी भीतर गया उस आदमी को हिलाया उसकी आंखें बंद हैं गड्ढों में समा गई आंखें हिला तो उसने पूछा कि मेरे दोस्त अभी सूरज डूबने में एक घड़ी देर है मैं एक प्रश्न पूछने आया हूं उत्तर दोगे मैं पूछने आया हूं कि पांच दिनों में तुम्हारे मन में कोई पाप उठा पांच दिनों में तुम्हारे मन में घृणा उठी हिंसा उठी द्वेष उठा क्रोध उठा कैसे प्रश्न में पूछने आया हूं वो आदमी हंसने लगा उसने कहा आप भी मरते हुए आदमी से मजाक करते मौत इतने करीब थी कि मेरे और मौत के बीच फासला कहां था कि क्रोध उठाए हिंसा उठाए फासला कहां था मौत और मेरे बीच मैं था और मौत थी और कुछ नहीं था पांच दिन न घृणा उठी न हिंसा न क्रोध न मालूम कहां गए सब बस मौत थी और मैं था उस फकीर ने कहा उठ जाओ अभी मौत नहीं आई तुम्हारी रेखा तुम्हारी बहुत लंबी मैंने तो केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है कि तुम मरने को नहीं पांच दिन बाद मौत दिखाई पड़े या पचास वर्ष बाद मौत दिखाई पड़े तो क्या फर्क पड़ता है जिसको मौत दिखाई पड़ने लगती उसके जीवन में आमूल परिवर्तन शुरू हो जाता है मौत सबसे बड़ा शिक्षक है मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है और जिस व्यक्ति को धार्मिक जीवन में दीक्षा लेनी हो उसे मृत्यु के अतिरिक्त और किसी गुरु को खोजने की कभी भी जरूरत नहीं मृत्यु को स्मरण करें वो 24 घंटे तलवार लिए आपके साथ है और मृत्यु को स्मरण करके जीने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि आप जागना शुरू हो गए नींद टूटनी शुरू हो गई नींद समाप्त हो जाएगी एक छोटी सी घटना और मैं अपनी बात को पूरा करूंगा एक पहाड़ पर जहां चार चार सौ फीट ऊंचे दर्द थे एक बूढ़ा आदमी लोगों को दरख्तों पर चढ़ने की कला सिखाता सीधे दरख्त आकाश को छूते वृक्ष चार सौ फीट ऊंचे उन पर लोगों को चढ़ने की कला सिखाता एक युवक उससे वृक्षों पर चढ़ने की कला सीखने आया वो बूढ़ा नीचे बैठ गया था और युवक को कहा था कि तू चढ़ उसे चढ़ने का ढंग बता दिया था वो युवक उस ऊंचे दरख्त पर चढ़ रहा धीरे धीरे धीरे वो 400 फीट ऊंची आखिरी शिखा पर पहुंच गए जहां हवा का जरा सा झोंका मौत का ख्याल आता जहां जरा सी चूक और जिंदगी समाप्त थी वो बूढ़ा नीचे चुपचाप बैठा रहा चुपचाप बैठा रहा चुपचाप बैठा रहा फिर वो जवान उतरना शुरू हो गया जब वो जवान कोई 20 फीट ऊपर रह गया था तब वो बूढ़ा एकदम उठाया और कहने लगा सावधान होश से उतरना वो जवान हंसने लगा उसने कहा आप भी बड़े पागल मालूम होते जब मैं 400 फीट की ऊंचाई पर था और मौत करीब थी तब चिल्लाना था कि सावधान अब चिल्लाने का क्या फायदा है अब तुम्हें जमीन के करीब आ गया उस बूढ़े ने कहा मेरे जीवन भर का अनुभव ये कहता है कि जहां मौत करीब होती है वहां आदमी खुद ही सावधान होता है किसी को सावधान करने की जरूरत नहीं होती तुम जब चार सौ फीट की ऊंचाई पर थे तब मेरी कोई भी जरूरत नहीं थी कि मैं तुम्हें चिल्लाऊ सावधान तुम खुद ही सावधान थे क्या तुम सावधान नहीं थे क्या तुम जब 400 फीट की ऊंचाई पर थे तब तुम्हें कोई विचार आया उस युवक ने ख्याल किया ये सच्चाई जब वो 400 फीट की ऊंचाई पर था और हवा के कंपन मौत बन गए थे तब न तो कोई विचार था न कोई स्मृति थी न कोई अतीत था न कोई भविष्य था वो वर्तमान का क्षण था वो हवाओं के झोंके थे वो वृक्ष था वो सूरज की रोशनी थी वो ऊंचाई थी वो खुद था लेकिन वहां न कोई अतीत था न कोई भविष्य था न कोई कल्पना थी न कोई स्मृति थी न कोई विचार वो बिल्कुल निर्विचार था उसने कहा आप शायद ठीक कहते हैं मैं बहुत सावधान था वहां और उस बूढ़े ने कहा मैं और अनुभव से यह कहता हूं कि जैसे ही आदमी जमीन के करीब आता है वृक्ष से और जैसे ही उसे लगता है कि खतरे के पार आ गया वैसे ही नींद आनी शुरू हो जाए वैसे ही बेहोशी पकड़नी शुरू हो जाए वैसे ही सावधानी समाप्त हो जाती जब तू करीब आ रहा था तब मैंने देखा कि अब नींद आनी शुरू हो रही है तब मैं चिल्लाया कि सावधान उस बूढ़े ने कहा लोग किनारे के पास आपके कश्ती दुबा बैठते हैं ये जान के कि किनारा पास आ गया और असावधान हो जाते हैं मजदार में मुश्किल से तो कभी कोई डूबता है लोग अक्सर किनारों पर ही डूबते हैं और नष्ट होते हैं और उस बूढ़े ने कहा कि मैंने अब तक वृक्ष की आखिरी चोटी से किसी को गिरते नहीं देखा जब भी गिरते देखा है तो जमीन के नीचे आके गिरते देखा मौत पीछे हो चारों तरफ हो तो एक ऐसी सावधानी की ज्योति भीतर पैदा होती एक ऐसा होश जगता है एक ऐसा दिया जगता है प्रज्ञा का ज्ञान का कि वो दिया आपके सारे जीवन के अंधकार को तोड़ डालता है उस प्रकाश में ही प्रभु के दर्शन होते हैं उस प्रकाश में ही आनंद की वर्षा होती है उस प्रकाश में ही अमृत के द्वार खुलते हैं उस प्रकाश का ही नाम सत्य है उस प्रकाश का ही नाम ब्रह्म है उस प्रकाश का ही नाम मोक्ष अगर ये यात्रा करनी हो अगर ये प्रभु तक के मंदिर तक पहुंचने की आकांक्षा सा हो अगर इसकी आकुल प्यास हो तो नींद को तोड़े और जागे जिस दिन भी आप जाग जाएंगे उसी दिन जीवन उपलब्ध हो जाएगा मैंने जो ये कहा ये कोई फिलसफी नहीं है ये कोई दर्शन नहीं है मैंने जो कहा ये सुन लेने भर पर्याप्त नहीं है मैंने जो ये कहा अगर इसका थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो कोई परिणाम आ सकते हैं परमात्मा करे आपको जीवन के साथ प्रयोग करने का साहस और प्यास दे परमात्मा करे आप जन्म पर ही न रुक जाए जीवन को उपलब्ध हो सके अंत में यही कामना करता हूं कि सबको प्रभु उपलब्ध हो सके सबका अधिकार है प्रभु को पा लेना जन्म सिद्ध अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो जाए परमात्मा करे कि प्रत्येक वही हो सके जिससे होने के लिए पैदा हुआ है मेरी बातों को तीन दिनों तक इतने प्रेम और शांति से सुना इतनी प्यास से इतनी आतुरता से उसके लिए जितना भी मैं धन्यवाद करूं वो छोड़ा है मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हुआ हूं